विद्यार्थी समझते हैं नहीं और मैंने आप संग्रह चालू कर दिया सबके दिमाग में चलने लगा इन्होंने सर्वेश जी के लिए ही जान के इसको चलाया और हम लोग को वेदांत नहीं पढ़ाना उल्टा भी चल पड़ा सबका अब दो चार लोग आए नेता बन करके विद्यार्थियों की तरफ से तो, तो हमने कहा भाई आइए भाई क्या यूनियन बाजी चल रहा है तुम्हारी सही <laughs> बात रही ऐसे ऐसे क्यों किया आपने कभी किसी ग्रंथ को आप अधूरा छोड़ते ही नहीं आज आपने इस तरह से बंद कर दिया उस ग्रंथ मैंने कहा क्या करो तुम लोग सब अनधिकारी चेष्टा कर रहे हैं तुमको मैंने कहा है वेदांत पढ़ाऊंगा बाद में लेकिन पहले तुम्हें मीमांसा थोड़ा पढ़ना है मान मनोहर भी पढ़ना है मान मेदे भी पढ़ना है सांख सूत्र तुम्हारा हुआ निकारिका नहीं हुई योग योग सूत्र नहीं हुआ ये सब पढ़े बिना हम वेदांत शुरू करेंगे नहीं आप लोगों के लिए ये तो परीक्षार्थी ये तो अन्यता सिद्ध है हमारे लिए तो परीक्षार्थी अन्यता सिद्ध है आप लोगों की दृष्टि से जितने परीक्षार्थी हमारे लिए अन्यता से फिर कोई भरोसा नहीं होता परीक्षार्थी होंगे कब मन उठ जाए पाक जाए कब गाँव याद आ जाए कब कोई याद है कब आज भरोसा ही नहीं उनकी पढ़ाई में निष्ठा नहीं हो सकती है परीक्षा जो उसकी निष्ठा परीक्षा में उसकी निष्ठा सर्टिफिकेट में है तो स्वाध्याय में निष्ठा कभी नहीं हो सकती है परीक्षा मैं आज भी बोल रहा हूँ आप सब परीक्षार्थी पचास प्रतिशत यहाँ है खुलम खुला कहता है उस बात चाहे बुरा लगे आपको भले ये सच्चाई है स्वाध्याय की प्रति परीक्षार्थियों में निष्ठा कभी नहीं हो सकती उनका लक्ष्य अलग स्वाध्याय नहीं तो ये बात हमने उनको कहा इसलिए मैं हम तो परीक्षार्थियों को अलग कर वो भी मंडलेश्वर जी कहने से उनको पढ़ा तो वो भी इसलिए देखो ना आधा पढ़ा के बम कर दिया वो हमारा स्वाध्याय है ही नहीं जो स्वाध्याय है उसको तो मैं कभी चाहे एक विद्यार्थी है कोई भी न रहे ग्रंथ शुरू हुआ यदि विद्यार्थी सब छोड़ के चले जाएंगे मैं दीवार को सुना के पूरा करूंगा भगवान के साथ को सुना के पूरा करूंगा लेकिन ग्रंथ को पूरा करूंगा लेकिन जो अस्वाध्याय में मैंने कोई ग्रंथ को आरंभ करता हूँ उसको मैं कभी भी कहीं भी छोड़ सकता हूँ एनी मिनट छोड़ के चल दूंगा कोई भरोसा नहीं स्वाध्याय के रूप में जो चल रहा है उसमें गड़बड़ नहीं और आप लोग स्वाध्याय के विद्यार्थियों से क्रम से जो मैंने आप लोगों के लिए शुरू किया हूँ उस क्रम से आपको चलना ही पड़ेगा नहीं चलना चाहते हो तो आप जा सकते फिर आप भी उसी अन्यता से कोटी में आए कभी भी जाओ छूटे तो छह विद्यार्थी भ्रांति को लेकर चले गए बनारस गए धक्के धुके खाए होना तो कुछ है ना हमें पता है कहाँ जा रही है वो उज्जैन कुंभ मेला में लगाए माफी मांगने लगे राज अभी हमें समझ में आ रहा है और वहाँ जब गए दोबारा सिद्धांत सुनना पड़ रहा है और वहाँ भी सब चक्र वही चल रही है आरम्भ से ईश्वर कोई पंडित कहते क्या पढ़े न्याय नहीं पढ़ा नहीं वेदांत नहीं गेट कोई पंडित भी पढ़ाने को तैयार नहीं सीधे वेदांत मैंने देखा अब समझ में आई ना बात कोई बात नहीं भोले बैठ के बच्चे लौट आते हैं जैसे आ जाओ अब भी मना नहीं है क्रम से पढ़ो देखे तो यहाँ चित्र वगैरह थे सब लौट आए थे पढ़ते रहे बाद में से हो जाता भ्रांति जब हो जाए उनको अपने आप समझ में जब आएगी तभी निवृत्त होगा हमारे समझाने से नहीं हो सकता किसी के भी समझाने से कि स्वयं स्वीकार कर लिया ना गलत को जो स्वीकार कर लिया है और उसको स्वयं सुधारेगा तभी होगा दूसरा मदद कर सकता है यदि उसके अंदर सुधारने की इच्छा हो तो नहीं तो नहीं जैसे आप इसलिए मुमुक्ष मुमुक्षता भगवान ने आचार्य संग्रह से लेकर अत्यंत दुर्लभा में मोक्षोत्तम मुक्त करने की इच्छा ही नहीं है तो क्या मुक्ति दे कौन करे उन्हें मुक्त जितना पढ़ाओ लिखाओ कुछ नहीं होने वाला है क्यों चाहता है आचार्य पद चाहता है आचार्य सर्टिफिकेट देखना चाहता है तो उसको क्या मुक्ति मिलेगी और जितना पढ़ रहा है लिख रहा है वो आचार्य सर्टिफिकेट के लिए लिख रहा पढ़ रहा है तो वो मिलेगा जब सर को नहीं मिलेगा मुक्ति तो मिलेगी उसको वेदांत आचार्य सर्टिफिकेट मिलेगा साहित्य आचार्य सर्टिफिकेट मिलेगा व्याकरण आचार्य सर्टिफिकेट मिलेगा पैंसठ रुपए लेके जाओ छह सौ करो नहीं मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी ना बड़ा मुश्किल काम है मोक्ष उत्तम इसे दुर्लभ कहा भगवान ने पूरी बातों में ध्यान रख यहाँ भी कहा जा रहा है स्वयं यया समोहित स्वयं ही वह माया से सम्मोहित हो रखा है कोई दूसरा से सम्मोहित किया नहीं ये दूसरा कर दिया होता तो दूसरा हटा दीजिए तो उसको कहे तो भैया हटा दे तुम कहे तो मेरे ऊपर लगा रखिए जब पुलिस जाके हथकड़ी लगा देती है तो पुलिस को घूस की हथकड़ी खोल देता है बात खत्म हो गई कोर्ट से खुलवा लो अनेक तरीके है ना जो दूसरे से आरोपी थे तो दूसरे के आरोपी तो उसको हम आराम से मिटा सकते हैं बहुत तरीके उसके लेकिन स्वयं जो ले लिया मैं ब्राह्मण हूँ अब इसको मिटाना कैसे मिटाएंगे तो जन्म से खून में घुस गया है ऐसा ऐसी देर हो गया कि मैं ब्राह्मण हूँ मैं क्षत्रिय हूँ मैं मनुष्य हूँ आंखों से मैं पुरुष हूँ मर्द हूँ अब ये तो बड़ा मुश्किल है इनको मिटाना कठिन काम है स्वयं के द्वारा जन्म से लेकर गृहित अनाधिकार से गृहित वस्तु है इसको मिटाना कठिन है प्राणादिवीर प्राणादिवीर अनंत भावई रेत रेत प्राण अनंत भावई विकल्पित ऐसा माया किसका ये माया तस्य देव से ऐसा उसी आत्मा की है माया किसी और की नहीं और उसमें तो स्वयं ने स्वीकार भी करके मोहित हो गया है तो मोह को कैसे छुड़ाना है बाद में विचार करेंगे सिद्धांत पक्ष में जवाब दे दिया सारी कल्पनाओं का आधार माया संसार जीव सहित संसार की कल्पना का कारण कौन है माया है अब एक मत को लाएंगे इसके बाद कोई कत नहीं नहीं माया माया हम नहीं मानते प्राण से सारा संसार हुआ हृण गर्भ से पहले पंचभूतों से हुआ कोई कुछ कोई कुछ संसार का कारण अनेक मत अबारंभा यदि आत्मा एक एवं निश्चय कथम प्राणाधिरमंत्र भाव संसार लक्षण विकल्पिता चेत है यदि आत्मा एक एवं ऐसा निश्चय है फिर किस प्रकार ये प्राणादियों के अनंत भावों के माध्यम से संसार लक्षण जो रूपा इन प्राणादि अनंत भावों के द्वारा ये कल्पना जो हुई है विकल्पित जो हुई है आत्मा एक कैसी हो गई बताओ उच्चते श्रो सुनो भाई माया ऐसा देव उस आत्मा रूपी देव प्रकाश स्वरूप आत्मा का ये माया है यथा माया विना विहिता माया गगनम अति विमलम कुसुमित सफल बलाशयी तरुविराकीर्ण करोदी तथा जैसा माया भी अपने पास ही रहने वाली माया से क्या करता है आपको सामने बहुत फसला नील गगन शुभ्र आकाश दिखा देता है और जाकर फिर पेड़ दिखा देता है और पेड़ भी कैसे फल लगा हुआ है फूल लगा हुआ है बड़ा सुंदर है कहा दिखा रहा है आकाश में सब दिखा रहा है और कभी आकाश पेड़ हो सकता है लेकिन आपको दिखाई दे रहा और आप भी बोल के बहुत ताले बजाते हो बहुत बढ़िया दिखाया इसने माया जो माया भी दिखा देता माया को सब ताले नहीं बजाते नहीं भी बजाएंगे तो कहे बच्चे कहा ताले बजाओ बोलेंगे देखो कितना बढ़िया दिखाया इसने तो ही कह रहे यहाँ पर भी मायावी के द्वारा अपनी ही से विहित माया गगनम अति विमलम अत्यंत विमल गगन को पहले दर्शाया फिर उस विमल गगन में क्या दिखाया सफल स मैंने फले न सफल पड़ा शरीर कुसुमित ही फल पलाश अपत्र कुसुम आर्यों से वृक्षों से आकीर्ण करो दे वृक्षों के बहुत बड़ा बगीचा के समान वहां पर उसने दिखा दिया तथा इमम अभी देवस्य माया ठीक उसी प्रकार आत्म रूपी स्वप्रकाश रूपी आत्मा की जो माया है यह अयम स्वयं मोहित एवं मोहित होती जिसके द्वारा वह स्वयं मोहित हुए के समान मोहित है वास्तविक मोह तो नहीं होगा यदि वास्तविक मोह हो जाए फिर तो कुछ का निवारण न कर सके इसे कहा भगवान ने ये मव मायाद देखो अच्छा मोह द्वारा आत्मनि एवं मायाद तृप्ति अर्था यथा लौकिको मोहितो मोह पर वशो दृश्य दे टीका में यथा लौकिक पुरुष मोह पर वश होकर के विभिन्न वस्तुओं की कल्पना कर लेता है तथा अयम आत्मा से माया संबंधात मोहित होती उसी प्रकार आत्मा भी माया के तो सम्मानित होकर के मोहित हो गया समझो अयम आत्मा स्वयं तथा मोहित मोहित लौकी को अयम यथा तथा अतो मोह द्वारा आत्मनि एवं मायाधिगत इसलिए कार्यान में आत्मा में माया थी और माया ने ऐसा विकल्प किया क्यों पता चला मोह के कारण यदि हमारे अंदर मोह न होता फिर हम कभी नहीं कह सकते थे कि आत्मा में माया नाम की कोई वस्तु है हम लोगों के अंदर विराजमान जो ये जो मोह है अहंता नामता जो मोह है अज्ञान है यही स्पष्ट हमें अनुमान करा दे रहा है कि अवश्य ही उस आत्मा में कोई माया नाम का चीज है ना होता तो हमें मोह कहा से होता कार्याण में ही है कहेंगे आत्मा माया क्या है प्रत्यक्ष है क्या माया को किसने देखा आज तक हम्म, माया तो कभी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता इसलिए माया अनुमेया है अनुमान कैसे करोगे असमझ आदि मोहत्वा मोह हम के अंदर जो विद्यमान मोह है असमदादि नाम मोहवत्ता हम सब के साथ जो मोह वाले हो गए हैं अतएव मानना पड़ेगा हम सभी की आत्मा के ऊपर कोई माया नाम का आवरण जरूर है जिसके कारण हम अपने स्वरूप का निश्चय नहीं किया अनिश्चित आसती पहले कर चुके हैं स्वरूप का अनिश्चय होने के कारण से ही जो है विकल्प माया या मोहितम भगवता भी सूचित माया ही मोह का कारण है ये बात भगवान ने भी सूचित कर कह दिया था मम माया दुरुत्या प्राणा प्राण विदो भूतानि तद्विद गुणा गुणविद तत्वानी तद्विद उपादान कारण को लेकर पहले विचार कर रहे प्राण यदि प्राणविद हिरण्य गर्भ ही समस्त जगत का जो है प्राण शब्द हिरण्य गर्भ लेना अथवा नहीं है एक वैशिष्ट आदि ईश्वर को ले लेना दिया ना प्राणो हिरण्य गर्भ हो तड़त्तीश्वरो वा स जगतो हेतु प्राण देव हिरण गर्भाध्या आदिष्ट कल्पयंदे है ना दोनों को ले लिया लेकिन वह भी उनका कल्पना मात्र ये हो नहीं सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि पूछा उनसे क्या वह हिरण गर्भ स्वतंत्र है या आपके ईश्वर स्वतंत्र है कल्पना कर रहे अरे जीवादी ने फिर अन्य असर दोषग्रस्त हो गया जीवन का यदि हिरण गर्भ है तो स्वतंत्रता नहीं रही परतंत्रता हो गई जो स्वतंत्र नहीं है वो जो है वस्तु का कारण हो ही नहीं सकता जगह का कारण नहीं हो सकता क्योंकि जो है जब तक आपके अंदर किसी भी चीज की कर्तृत्व का स्वतंत्रता नहीं है फिर आप उस वस्तु के कर्ता नहीं कहा सकता और पानी ने इसको बाद मान लिया और सूत्र ही बना लिया स्वतंत्र कर्ता कर्ता वो है जो क्रियाकलाप क्रियाकार का संग्रह करते कार्य का संपादन करने में स्वतंत्र है वो स्वतंत्रता से विना के विना जो है हम कर्तृत्व कहीं स्वीकार कर ही नहीं सकते और जो स्वतंत्र ही नहीं हिरण हिरण ईश्वर है आपके ऐसे ईश्वर हिरण आदियों को संसार के प्रति कारण नहीं माना जा सकता है इसे कह रहे हैं टीका स्पष्ट ही है वह यह जो बात उनकी अपनी कल्पना मात्र क्यों स्वतंत्र से हिरण गर्भ से सर्व जगत हेतुत्व है माना भावाद कोई स्वतंत्र हिरण गर्भ को सर्वजन कारण मान में कोई प्रमाण नहीं बनता है पौरुषी आगम से पौरुष श्रुति विरोधे यदि कोई कहे अरे माया इमरम तू महेश्वरम कहा है ना वहाँ पर माया तो प्रथम मायाम तो महेश्वरम तो, तो कहा है क्यों नहीं कहते हो मानते हो कहते ऐसा है जितने पौरुषीय पर जो श्रुतियां हैं वो अपौरुषीय श्रुतियों के विरोध होने पर स्वार्थ प्रमाणता को त्याग देते स्वार्थ मानत योगा तड़त्वश्वरवाद से प्रमाण युक्ति विहीन और स्वतंत्र ईश्वरवाद में तो दो नहीं प्रमाण भी नहीं युक्ति से भी सिद्ध नहीं हो सकता जिन युक्तियों का जिन अनुमानों के द्वारा और नैयायिकों ने अपने अपने ग्रंथों में विभिन्न प्रकार से ईश्वर सिद्धि किया उन सब का खंडन चित सुखी में आप देख सकते हैं चित सुखी ग्रंथ ही मुख्य रूप से मान मनोहर का खंडन के लिए वैशेषिक दर्शन का मूल ग्रंथ मान मनोहर अनुमानमय ग्रंथ है आप लोगों ने सुना है जिन्होंने उन्हें पता है अनुमानमय ग्रंथ है पूरे अनुमानों से भरा पड़ा है शुरू ही अनुमान से ग्रंथ की समाप्ति भी अनुमान से कहीं अग्गा जो का गद्य वाक्य मिलेंगे नहीं तो पूरा का पूरा अनुमान ही अनुमान है मैंने अनेक युक्तियां अनेक अनुमान पर युक्तियों से अनुमान के द्वारा बहुत प्रमाण सिद्ध किया कि ईश्वर है इस जगत का कारण उन प्रत्येक अनुमान एक एक अनुमान का पीछे पांच पांच छह छह अनुमान वेदांति ने बनाकर उसका खंडन कर दिया विजयनाचार्य जी के भी इसी प्रकार का खंडन चित्र मिलेगा कुल अट्ठाईस प्रमुख अनुमान माने ईश्वर सिद्धि में उन सबका खंडन मिलेगा तीसरे तो कहते हैं प्रमाण भी नहीं है बस युक्ति तो सवाल ही नहीं उठता दोनों ही गए इनके हाथ से प्रमाण क्या है क्षेत्र इत्यादि तात्पर्य वाक्यांतर विरोधेना हमारे पास प्रमाण क्या है क्षेत्र विमान विद्धि कर दिया जीवेश्वर अभेद दूसरे ईश्वर है नहीं और नया क्या मानते हैं जीवात्मा परमात्मा चाहिए थी दो भेद कर दिया जीवी भ्रम करके नहीं मानते जीवी ईश्वर करके नहीं मानते और यह शास्त्र हमारे प्रमाण है अतः इन इस शास्त्र के द्वारा उनका प्रमाण खंडित हो जाता है ईश्वर सर्वभूतान इत्यादि वचसाम कल्पित भेद विषय आंतत्व भिन्न जड़त्व भेद साधक युक्त है च इन वचनों है सब कल्पित भेद विषय को, को लेकर के ही व्यवहार होता है और आंत भिन्न जड़त्व का भय से जो भेद साध युक्तियां वो देते हैं वो सर के सारा अनुचित है वो उदय ही नहीं हो सकता क्योंकि हमारे ऐसा बोलता है जो भेद साधक जो चीज है वही भय का कारण है और भय को निवृत्त करने के लिए भेद घोषित कर रहे हो आप भय को दूर करने अभय को प्राप्त करने के लिए भेद सिद्धि कर रहे हैं इसलिए वेदांत ने ग्रंथ लिख दिया भेद धिक्कार ग्रंथ का नाम है भेद धिकार क्योंकि जो भेद को सिद्ध करके तुम भय को और पैदा कर और मजबूत कर रहे हो यत्र तो द्वैतम होती तथा भयम भवती जहाँ किंचित अभी द्वैत के समान हो जाए भेद के समान भी हो जाए तो भय है और जब भेद को दृढ़ कर दोगे फिर तो क्या कहना उसे तो भय और मजबूत हो जाए अभय पद क्या प्राप्त इसलिए यह तो उसका उदय का कोई अवसर ही नहीं अनुदय आप कह दिया और की बात है भूतानी चित्र विदा भूतानि बने लोकायतिक लोग कहते हैं अरे चार भूतों से स्वभाव उन चार भूतों की वो अपने आप में घुल जाते हैं जैसे आप पान चबाते हो वैसे कह दिया पान का पत्ता हरा रंग का है चूना सफेद रंग का है और कत्ता हल्का लाल रंग का है तीनों मिला करके आपने जो है चवा दिया तो एक रंग निष्पन्न हो गया या नहीं उसी प्रकार से सतम रूपी त्रिगुणात्मक जो आप मानते हो ऐसा नहीं मानूंगा मैं कहते पृथ्वी जल तेज वायु चार है ये आपस में मिल गए तो चैतन्य आत्मा तो उत्पन्न हो गया बहुत बढ़िया सुंदर उनके पास दृष्टान्त है देखो सबके पास अपनी अपनी युक्तियाँ अच्छी अच्छी है तो ये कह रहे हैं ये लोकायत करे चार भूत कोई जगत का कारण माना लेकिन वो भी ठीक नहीं क्यों भूत क्या है तो जड़े है हाँ? जड़ से चेतन की उत्पत्ति भले आप कह रहे हो लेकिन उनको मिलाएगा कौन वो जड़ अपने आप कैसे मिल जाएंगे स्वतः उनका स्वरूप ही सिद्ध नहीं हो सकता जड़ का तो वह स्वतः सिद्ध जब है ही नहीं उनके अंदर स्वतंत्रता पूर्वक उनका मेलन कैसा हो पाएगा स्वभाववाद के अगर उसका मेलन भी स्वीकार करना चाहो लेकिन स्वभाव की स्वतंत्रता चाहिए ना स्वतंत्रता का बिना आप अपने स्वभाव को इस्तेमाल कर भी नहीं सकते आपका अपना स्वभाव अच्छा है मान लीजिए लेकिन स्वतंत्रता जब नहीं है आप अपने स्वभाव के मुताबिक कोई व्यवहार नहीं कर सकते जैसे आजकल के जितने भी अच्छे भला आदमी जो सरकारी नौकरी करते हैं अच्छा आदमी है भला आदमी लेकिन क्या करेंगे वो ऐसी जगह चला जाता है नौकरी में जहाँ बैठ गया हो वो अच्छा भला बुरा अपने स्वतंत्रता पूर्वक अपने स्वभाव को इस्तेमाल नहीं कर सकता अक्सर काम भी करना चाहे तो कर नहीं सकता तो आज पड़ोस कहेंगे भाई कितना लिया हमारा परसेंटेज कितना अरे बिना लिए किया अरे भाई बिना लिए क्या क्या आदमी है तुम वो आदमी नहीं बिना लिए किया तो बताओ अब क्या है उसके स्वभाव अच्छा है लेकिन क्या करेगा वो स्वतंत्रता नहीं इसी प्रकार ये मान भी लोग भूतों के स्वभाव मिल जाते हैं इन मिलने के लिए स्वतंत्रता भी तो चाहिए वह तो स्वतंत्रता जड़ में हो नहीं आते हुए ये विवाद खंडित हो जाता है गुणा यदि गुण विद और साइन क्या आते हैं कहते जो है मदाधिकारी के प्रति कारण कौन है सब रजतम त्रिगुणात्मक जो है प्रकृति है मूल प्रकृति कारण है कहते हैं भाई लेकिन एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे साम्य भाव में स्थित इसको किसने विषम भाव में लाया यदि स्वगत साम्य भाव से विषमता को आने में विषमता जो साम्यता आने में क्या उस मूल प्रकृति स्वतंत्रता मानते हो क्या वो स्वतंत्र है अपने आप जब चाहे तब विषम हो जाए जब चाहे तब वो सम हो जाए फिर तो संसार की व्यवस्था ही नहीं बनी न सृष्टि न प्रलय की व्यवस्था बनेगी लेकिन उनको भी कहना पड़ता है भोज और प्रवृत्त किस लिए हुआ पुरुष को भोग देने के लिए हो रखा है इसे पुरुषाधीन होकर उसकी विषमता और समता का व्यवहार मानना पड़ेगा यावत काल पर्यंत पुरुष को भोग देना है तो श्रेष्ठ तो बनाना पड़ेगा उसकी मर्जी तो चलेगी नहीं फिर जब उसकी मर्जी नहीं चलेगी फिर स्वतंत्रता नहीं रहा फिर वो वो जैसे कारण नहीं हो सकता गुणा यदि गुण विद तत्वानी चतत विद लोगों ने का तत्वानी तीन तत्व मानते हैं शैव दर्शन वाले प्रमुख छत्तीस में से उनका प्रमुख क्या है तीन ही चीज है एक तो आत्मा दूसरा अविद्या तीसरा शिव जी ना पांच प्रतिशत इसलिए कहते हैं ना ये पशु कौन है जीव इसका पति कौन है शिव और इन पशु को बांध करके रखा है पति ने शिव ने उस बंधन कैसे हुई वो पांच कौन है अविद्या पशु पति और पाश तीन तत्व मानते मुख्य रूप से पशु जीव है इनका पति ईश्वर शिव है और पाश अविद्या है तीन तत्व को मान के चलने वाले शिव है लेकिन ये भी बात सही नहीं है क्यों क्योंकि इनके यहाँ भी वही समस्या खड़ी हो जाएगी कि आत्मा से भिन्न शिव है क्या पूछो उनसे यदि शिव और पशु पशु और पशुपति ये दोनों बाह्य जो पशु और पशुपति स्वामी के समान अत्यंत भिन्न है तो यह भी स्वातंत्रता ईश्वर खत्म हो जाएगा क्योंकि वह शिव भी जीव के कर्माधीन होकर के सृष्टि करने लगेगा स्वातंत्र खत्म हो गई तो ऐसा नहीं ना वेदांत मुख्य मत क्या है माया है अनादि अविद्या माया उस माया को स्वयं आत्मा स्वीकार कर लेता है सृष्टि को बनाया तो जीव भी बना दिया उसने सब अपना बना देता है एक और बहुत स्वयं प्रजा हो जाता है स्वयं पहले जीव बना दिया फिर जीवों के अंदर सृष्टि बनाया सृष्टि में उन जीवों को प्रवेश कर दिया अनिल जीवन रूपेण आत्मा नाम रूपम व्याकरवाणी करके कहता है और स्वयं ही जीव रूप धारण करके शरीर में प्रवेश किया और नाम रूप व्याकरण कर दिया यहाँ हमेशा ही वेदांत मुख्य सिद्धांत में जीव ब्रह्म अभिन्न नहीं हो सकता यदि अभिन्न है तो यहाँ भी फिर स्वतंत्रता खत्म हो जाए पूर्ण स्वतंत्रता नहीं हो सकती कल्पना करने का तीसरे तो इसलिए कहते हैं कि भाई आत्म अभिन्न शिव से तुल्य प्रसंगात अभिन्न तत्व नाम तृत्व व्याघाता आदित्यता टीकाकार खंडन की युक्ति दे रहे हैं क्योंकि जो कारिकाओं में ऊपर भाष्यकार कुछ भी नहीं बोलेंगे इसलिए हमें पूरा टीकाओं का साथ में देखते जाऊंगा टीका से बोलते जाऊंगा दृष्टि टीका पर दौड़ानी पड़ेगी पद के आधार पर आत्मनो भिन्न शिवस्या शिव से भिन्न आत्मा है आत्मा से भिन्न शिव मानोगे एक न एक जड़ हो ही जाएगा घटादी के समान जो से भिन्न होता है वह जड़ होता है हमने अनुभव किया इधर शिव से भिन्न यदि आपता है तो आत्मा जड़ है यदि आत्मा से भिन्न शिव है तो शिव जड़ हो जाएगा ये समस्या खड़ी होगी इन दोनों का अभिन्न कहोगे फिर तृप्त भाग आपका खत्म हो गया रत्न त्रय होंगे ना कहते हैं रक्त त्रय हमारे पास है एक रत्न शिव है दूसरा रत्न जीव है तीसरा रत्न अविद्या माया है ये त्रिरत्न रूपियों का जो सिद्धांत भंग हो जाएगा तब अगला गया कहते ठीक है फिर हम कहते पादा यदि पाद विदो विषया यदि तद्विद लोका यदि लोक विदो देवा तद्विद पादा अंश भेद को स्वीकार करके कर रहा है कोई एक ही आत्मा विश्व तेजस प्राकृत में पाद है ये तो पादा सर्व व्यवहार है तो यह पाद ही सकल व्यवहार के कारण ऐसे मान लिया ये भी कल्पना मात्र है कि निरंश आत्मा में पाद की संभावना ही नहीं है माया के बिना निरंश आत्मा का पाद हो सकता है क्या पहाड़ की भी परिकल्पना वेदांत रहते हुए जो मंड की श्रुति में स्वयं पाद की कल्पना पादा मात्रा मात्रा से पाद कर जो अभेद गया है वहां पर स्पष्ट प्रतीत करा दिया था ये सब माया से परिकल्पित है और आत्मा में जो तुरित्व भी क्या है कद तीन की अपेक्षा से केवल संज्ञा मात्र ही है तो पहले बोल चुके हैं अतवी हम मत खंडन कर रहे हैं जो पाप वास्तविक मान के कहते हैं कृपा है उस मंत्र का यदि कहता नहीं तीनों पाद वास्तविक है आत्मा में चार पाद वास्तविक है उसमें से एक पाद में समस्त संसार है तीन पाद में वास्तव में अमृतत्व है ऐसे वास्तविक पाद को स्वीकार करने वाले खंडन करते हैं यह वास्तविकता आपकी कल्पना मात्र है क्योंकि निरंश में अंश की परिकल्पना असंभव है वास्तविकत्व तो असंभव है उसमें और आएगा विषय काम सूत्रकार का विषय भोग काम सूत्रकार के समान आज अभी तक आया ही नहीं भौतिकवाद जो भौतिकवाद हम लोग मान रहे हैं पाश्चात्य लोगों ने भौतिकवाद फैला दिया भौतिकवाद फैला दिया हमारे भारत संस्कृति नष्ट हो रहा है बड़े हल्ला मचा हुआ है महात्माओं में सब जहाँ जाते भाषणबाज यही चलते रहता है कि हमारे हिंदू धर्म नष्ट हो रहा है हमारी संस्कृति खत्म हो रही है और जब पाश्चात्य संस्कृति हावी हो रही है भौतिकवाद बढ़ गया है लेकिन कुछ भी नहीं भौतिकवाद काम सूत्र का पढ़ोगे ना जिस प्रकार के भौतिकवाद का वर्णन किया है विश्वोपभोग की विवेचन जो है तो उसका एक पैसा नहीं है जो पाश्चात्य संस्कृति की दुआ है ऐसा तो जबरदस्त विचार आगे पढ़ते पढ़ते जिसके आदमी की दिमाग और लंगोटी ठीक नहीं गड़बड़ा जाए पढ़ते पढ़ते पढ़ते चित्र सामने है ही नहीं वस्तु तो है ही नहीं वस्तु का चित्र भी नहीं शब्द पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो ऐसा विलक्षण काम सूत्र कभी पढ़ने देखने तमाशा अपनी पता चली अपने आप को पता चल गया ना आपका अगर ब्रह्मचारी कितनी सही है हाँ इसलिए लिखे है भाई ये सब सीढ़िया लोगों को जैसे कई बार होता आप देखते हैं ना यहाँ पर काम सूत्र न पढ़ के सीधा सन्यासी होने वालों को क्या दुर्दशा तो देख ही रहे हैं चलिए <laughs> क्या जरूरत और पढ़े नहीं है भोगे नहीं है अनुभव नहीं है आ तो जाते हैं यहाँ बाद यहाँ देख देख करके जो है <laughs> क्या फायदा है उससे अच्छे गृहस्थी बनो भोगवादी हो जाओ फिर बाद में आओ ना क्रम संन्यास में आओ वो ज्यादा अच्छा है इसलिए सब जरूरी है वैराग्य के लिए सारी चीजें जरूरी है पहले उनको समझना पड़ता है तब उससे वैराग्य हुए परीक्षा लोकान कर्म चितान इसलिए कहा है आपने लोगों का परीक्षा किया ही नहीं और सीधे टपक पड़े तो गड़बड़ी हो जाएगी देखो दुनिया क्या है इसलिए काम सूत्र वो जरूरी है और जब पढ़ लो है ना आपको समझ में गया जिस प्रकार का वर्णन किया है ये उतना दिव्य भोग इस संसार में मिल नहीं सकता तो मैं भोग के पीछे क्यों जाऊंगा हेतु बनाया हुआ है विवेक आना चाहिए आदमी को इस पर याद तो मैं भोगू तो ऐसा भोग भोगू मैं तो कैसे भोगूंगा मैं क्यों अपनी जिंदगी को खराब करूँ इसके पीछे जिस दिव्य भोग का वर्णन किया जब वो दिव्य भोग नहीं मिल सकता है एक क्षुद्र भोग का पीछे मैं क्यों जाऊंगा पता हूँ क्या ऐसा विवेक जगाने के लिए काम सूत्र है वाल को बढ़ावा देने की इसलिए कहते विषया तत्विदा वाचन प्रवृतियों ने जो कल्पना किया शब्दादि विषय जो भोग के भुज्यमान और शब्दादि विषय जो है यही तत्व संसार के कारण है वह भी ठीक नहीं क्योंकि उसी की निंदा करने वाले अनेक ग्रंथ आप देखिए वैराग्य शतकों को पढ़ेंगे विषयों की निंदा बहुत सुंदर दिया इसी विषया नाच दूरम अत्यंतम अंतरम उपभुक्तम विषम हंदी विषया स्मरणादपि कहते देखो विषय विषय से विषयांच के लिए नहीं चाहे दो नहीं चाहे जितना भी सबके प्रति एक विषय का दूसरे विषयों से अत्यंतम अंतरम दूरम च दो अत्यंत भेद भी है अत्यंत दूरी भी है क्योंकि एक विषय दूसरे विषय से बिल्कुल कोई संबंध नहीं खाते हम शब्द सुनते हैं लेकिन सुनने के बाद उसका आनंद हमें दूसरे इंद्रियों से लेना आपने सुना पानी पीने से प्यास बुझता है अब कान से पानी पियोगे क्या न सुनने से बुझने वाला है, है? आज जिहवा से पियोगे तब ना होगा अब तब तक तो कितना फर्क हो गया विशेष जो, जो सुना उसको उपभोग में दूसरे से कर रहा हूँ और दोनों में कितना अंतर है चार अंगुल का अंतर है है चार अंगुल के अंतर लेकिन वो अंतर महान अंतर उपनिषद विचार आया कि कोई लड़ाई हुई दो साक्षी आए एक साथ से तो पूछा भाई आपने कैसे जाना इस बात को साक्षी देने आ गए हो बोला मैंने सुना है हाँ। साहब अच्छा ठीक है बैठो आप बताइए जी मैंने देखा है अच्छा देखा है? ओ, तब तो सच बोल रहे सुना हुआ बेकार है पता नहीं बकवास सुन लिया गप्पे सुन ली बात का पतंग उड़ा बना था तो ना एक हाथ की लोग की दस हाथ दस हाथ का बीच वैसे कहानी बन गया यार क्या भरोसा है तुम्हारा सुना हुआ सच्चा है है कितना चार अंगुल का फर्क है कान और नाक के बीच में कान और जो है आंख के बीच में है चार अंगुल का फर्क और अंतर कितना लेकिन प्रामाणिकता है नहीं सुने बातों में देखे बातों में पूर्ण प्रामाणिकता साक्ष्य का स्वीकार किया जाता है जैसे दूरम अंतरम अत्यंतम अत्यंत दूरता है दोनों का कोई संबंध नहीं है प्रामाणिकता के बारे में तो सोचो तो घबरा जाओगे क्या इन इंद्रियों के अंदर प्राप्त कर कोई भी विषय हमारे लिए प्रामाणिक नहीं हो सकता चिंतन करके कभी देखिए कोई भी विषय आपके लिए सत्य नहीं इसे कहते चले यदि हम मानव किसी उपभोग किया तो समझो उसने जहर खा लिया स्मरण से भी नाश ही होता है स्मरणाग भी विषय अंत्य चित्त विषम यदि उपभोग कर ले तो मानो जहर उसने पा लिया स्मरण करने मात्र से जिसका नाश होता है उसको भोग करने पर समझो कि निश्चित रूप से उसने जहर को पाया है अतः मुक्ति से बहुत दूर हो रहा है ऐसे विषयों की निंदा है अतएव जो है कभी इसकी और इसको आप जगत का कारण नहीं मान सकते लोका इति लोक विदो पौराणिक लोग कहने की नहीं जी पूर्व लोक ही सम संसार का कारण है कभी ये भी कारण नहीं हो सकता क्योंकि स्थान भेदे भेदे न तृप्त है तद आरंत के स्थान वेद के आधार पर आपने तृत्व को स्वीकार किया है स्थान वेद कैसे मानना पड़ेगा वो भी भूत समुदाय आत्मक लोग ये इस समुदाय को एक मानोगे क्या अलग अलग मानोगे यदि स्थान में समुदाय भेद मानोगे तो ग्राम नगर आदि के समान हो जाएगा अत्यंत भिन्न हो जाएगा जब तो अत्यंत जो भिन्न वस्तु है वह परस्पर एक दूसरे के प्रति कारण नहीं हो सकते यदि अत्यंत भिन्न दो सिंह एक कारण चिन्ह उत्पन्न भी हो रहा होगा तो अभी एक सिंह के प्रति दूसरा सिंह कारण नहीं हो सकता है यदि लोकत्र एक काल अविच्छेद भी उत्पन्न भी हो जाए परस्पर एक दूसरे के प्रति कारण नहीं हो सकते अतः संसार का कारण तीनों लोग नहीं हो सकता देवा इति देवा इति देवा इति जो देवता कांडीय लोग है वेदांतर्गत मानते हैं लोग अग्नि इंद्र आदि का फल को प्रदान करने में समर्थ है कोई अलग ईश्वर नाम का उसको मानने की जरूरत नहीं है उन लोग ये मत का खंडन करते अग्नि इंद्र आदि तत्फल तो दाता नेश्वर तथा ये देवदा कांडिया तद विकल्पना मात्र सिंह भी ठीक नहीं क्योंकि हम वहां पूछते हैं उनसे हम लोग के प्रयत्नों की अपेक्षा करके फल दे रहे हैं या निरपेक्ष होकर दे रहे हैं यदि हमारे कर्माधीन होकर हो देते फिर तो स्वतंत्र का हुआ है यदि और हमारे कर्माधीन नहीं दे रहे हो तो ईमान के चलो कि असमयारी प्रयत्न अपेक्ष प्रदान तेषा वृत्ति भाव प्रसंग तो जैसा वृत्ति के प्रति स्वामी है वैसे ही हो भी हो गए नौकर इतना काम किया जितना अधीन आया उसी हिसाब उसका तनखा ये देते हैं मालिक उसी प्रकार से इंद्रादि भी कर रहे हैं अरे स्वातंत्र अलंकार है उसका करता है फिर तो उसे आराधना क्यों करो मैं कर्म क्यों करो स्वतंत्रता पूर्वक हमें फल दे सकते हैं हमारे आराधना करके उनको खुश करने क्या जरूरत है उनको प्रसन्न करना पड़ता है ना देने के लिए क्यों कर रहे हैं वो स्वतंत्र है अपने आप दे दो तो ये अपेक्षा क्यों कर रहे चाह रहे हैं कि मेरे को प्रसन्न करे तब मैं इनको दूंगा इसलिए मीमांसा करते तो इसका खंडन करते इस प्रकार से देवताओं का विग्रह अविशाम होगा ऐश्वर्य प्रसन्नता फलदातृत्व चित्त विग्रह अधिकम ये विग्रह आदि पांच चीजें नहीं मानती है मेहमान सब इसलिए उनका सबसे पहले विग्रह दूसरा हविषा भोग स्वाहा स्वाहा कर अग्नि स्वाह प्रजापति स्वाह देते हो और इसे क्या होगा वो वो ऐश्वर्यवान पुरुष है वो प्रसन्न हो जाएगा हमको फलदान देगा ऐश्वर्य प्रसन्नता फलदातृत्व चित्ते दे और फलदातृत्व फलदातृत्व उनके अंदर है ये पांच चीज माना गया पंचगम विग्रहिकम इसको खंडन करते हैं कहते हैं कि इसमें परस्पर विरोध होता है यदि वो फल के दाता में उनकी स्वतंत्रता है फिर उन्हें प्रसन्न करने की क्या जरूरत है जैसे माँ जो है बच्चे को भोजन खिलाएगी या कुछ भी देगी उसे स्वतंत्र है लेकिन जब भी जो कुछ भी देगी वो ये सोच समझ के तो देगी ना इस बच्चे को क्या जरूरत है स्वतंत्रता है देने में और वो बच्चे का हित की ही चीज देती है कभी वो बच्चे को दुख प्रदान करने वाला कोई वस्तु को प्रदान नहीं करती है इसीलिए मातृवत यदि देवता लोग भी स्वतंत्र है तो हमें दुख क्यों दे रहे हो हम तो बच्चे हैं उनके तो क्यों इन बच्चों को कष्ट दे रहे हो इसका मतलब वो फलदान देने में भी स्वतंत्र नहीं है साबित होता है ऐसे अस्वतंत्र वो इस जगत के सृष्टि का कर्ता मानना बिल्कुल ही उचित नहीं है तो भक्ता में भी प्रतिपति दर्शना हाँ, तो और दूसरा हम क्या देख रहे हैं उन भक्तों में भी देख लो ना सब भगवान कृष्ण ही की भक्ति है कोई कृष्ण भक्त करोड़पति है कोई तो मांग रहा है, है तो सब भक्त इसलिए कहते हैं कि देखो उन भक्तों में भी परस्पर प्रतिपति देखने को मिलता है अतः स्पष्ट ही है फल दान देने में उनका स्वतंत्रता नहीं है ऐसे अस्वतंत्र तत्वों को सृष्टि का निर्माता मानना असंभव है उसके बाद आते वेद वेद विदो यज्ञ तद्विद भोक्ते भोक्तृविदो भोज्यमिति च तद्विद वेद वेद विदो वेद ऋग्वेद चार है यही वास्तविक तत्व है इन वेदों का उच्चारण हुआ उच्चारण होते ही समय संसार प्रकट हो गया शब्द से सृष्टि हुई ऐसा उनका कारण है ये जो वेद पाठी लोग होते हैं पाठक वेद पाठी लोग ये बात कहते हैं ये भी ठीक नहीं क्योंकि वेद कि जो वेद है वह लौकिक शब्दों से भी नहीं है वेद जो है जो वर्ण आप रही हो जो लोग हमें प्रयोग कर रहे हो वही वर्ण तो वहां भी है ना कि कोई दूसरे वर्ण हुआ वेद में वर्णों के अनुक्रम के निश्चित इतना ही है वेदों में जो है वो अनुक्रम निश्चित है लोक में जो आप जैसे अच्छा वैसे बोल रहे हैं कोई निश्चित वाक्य रोज निकलता है कि आपके मुख से नहीं किसी भी विषय पर आपको बोलने कहा जाए और रोज बुलवाया जाए उसी पर बोलना है एक ही शब्द पर व्याख्या करने को कहा है आपको रोज के रोज वही बोलो लेकिन आप बोल नहीं सकेंगे पचास प्रतिशत भी समानता नहीं रहेगा शब्दों में वाक्य मेरा फेरी हो ही जाएगा और क्या वेद में अनादिकाल से आज तक एक भी वाक्य एक के शब्द चकार में भी एक मात्रा में भी आप अंतर नहीं कर सकते वो अनुक्रम निश्चित है इतना ही अंदर है वेद और लोक में वही कार्य से नहीं वेद लौकिक वर्ण व्यतिरिक्त दृश्यंत है लोक में जो है प्रयोग होने वाले शब्द वर्ण समूह उससे व्यतिरिक्त वेद में कुछ भी नहीं है रही और विशेषता क्या कर्मवता में वर्णाराम वेद शब्द वाच्यत्व क्रमवान जो है शब्दों वाले शब्दों को वेद शब्द से कहते हैं क्रम तो आरोपित वस्तु है जो आरोपित होता है वो नित्य नहीं हो सकता और शाश्वत नहीं हो सकता क्रमच उच्चारण उपलब्धियों उपलब्धि और अन्य प्रगतो वर्णेश आरोपित है और क्रम क्या है उच्चारण और आपकी अपनी अनुभूति उपलब्धि इन दो में से एक के आधार पर वर्णों में क्रम का आरोप किया जाता है तथा तदा कर्मवदान तादृश आरोप विशिष्ट क्रमवान शब्द आरोपात्मक क्रम से विशिष्ट जो शब्द राशि है वह नाम आरोपित रूपेण वेद शब्द वाच्य इस तरह से वर्णों के ऊपर आरोपित होने के नाते तारस वेद शब्द वाच्य वेदों को लेकर के पारमार्थिकता को स्वीकार करना असंभव है उसमें अनित्यता जरूर रहेगी क्योंकि जो कुछ भी आरोपित है वह कभी नित्य और शाश्वत हो नहीं सकता है और वेद में जिस शब्द राशियों के क्रम है वह क्रम आरोपित क्रम है क्या जो शब्द है आप पढ़ते हैं लोक में वही वहां पर भी है पहले शब्दों के क्रम केवल हमें निश्चय कर दिया निश्चय किया का मतलब क्या आपने एक आरोप करके निर्णय लिया कि यही क्रम से पाठ करना है इस क्रम का व्यतिक्रम से कोई पाठ करेगा हम उसको नहीं मानेंगे एक क्रम आरोपित क्रम में आप नियमन कर दिया है इतने मात्र से वस्तु नित्य नहीं हो सकता अतः वेद एक अनित्य और स्वतंत्र तत्व हो गया ऐसा जो तो क्यों वो भी उच्चारण के पैसे करेगा अरे कोई उच्चारण करेगा तब ना उससे संसार प्रकट होगा वेद अपने प्रकट कर देगा क्या यदि वेद से उत्पत्ति संसार का मान भी लेंगे फिर वेद को उच्चारण के बिना क्या संसार उत्पन्न हो जाएगा उच्चारण की अपेक्षा रहेगी तो अन्य सापेक्ष तत्व हो गया जन्य जो सापेक्ष तत्व है वह सृष्टि का कारण नहीं हो सकता क्यों जो सापेक्ष हो जाता है पराधीन हो ही जाता है जब पराधीनता होगी वह तो एक दूसरे की अपेक्षा के अधीन हो जाएगा निमित नैमित्तिक भाव से सृष्टि होने लगेगी तो सृष्टि का निर्माण में स्वतंत्रता जो ईश्वर मानते हैं लोग वह खंडित हो जाएगा और अस्वतंत्र व्यक्ति कभी भी वास्तविक तत्व का निष्पादन नहीं कर सकता तत्व उत्पत्ति जो होगी सृष्टि उत्पत्ति जो होगी जिस प्रकार के आप देख रहे हैं ये अस्वतंत्र व्यक्ति नहीं कर सकता है जैसे देख लो आप अस्वतंत्र व्यक्ति है इधर आप आम का बगीचा लगा देते हो आप चाहते हैं कि सभी आम पेड़ बढ़िया मीठा आम ही हो इन खट्टे आम की भी लग जाए तो क्या करोगे इंजेक्शन दो बदल दो उसकी जीन्स को नहीं बदल पाए क्यों हम स्वतंत्र है इसी क्यों हम अपने कर्माधीन है समझो ये ईश्वराधीन है समझो और ईश्वर भी हमारे कर्माधीन हो जाएगा फिर वो क्या वो क्या पुष्टि बनाएगा उसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी तो इसलिए कहते हैं कि कोई भी चीज जो किंचित भी अपेक्षा करने लग जाता है वह सृष्टि यथार्थ सृष्टि नहीं हो सकती जिस प्रकार सृष्टि का स्वरूप वर्तमान में देख रहे हैं जो सृष्टि स्वरूप का निर्माण कर नहीं सकता जो परतंत्र व्यक्ति है यज्ञ चतुर्विद कहते कि भाई यज्ञ क्यों आए उन्होंने कहा भाई ज्योतिष हमारे यज्ञ है इन्हीं कर्मों के कारण से सीधा सृष्टि हो जाता है क्योंकि आप कहते हैं यज्ञ में आहुत जो है आहुत यहाँ से कहा गया आदित्य पहुंच गया है कि नहीं ऐसा वर्णन आया है गीता जी में भी आया अन्ना परजन याद न समो तो तक नहीं आया है स्पष्टी का क्रम में जो है सब यज्ञ मनुस्मृति का द्वारा स्पष्ट कर देते हैं यज्ञ प्रास्ता होते होता है ऐसा लिख दिया उन्होंने यज्ञ में जो प्रास्त बने डाला गया जो प्रकृष्ट रूपेण क्षेपण किया हुआ आहुतियां अशुक्षेपण है तो इन आहुतियों के कारण से सृष्टि हो रही है ऐसे यज्ञों की प्रभाव यानी की स्तुति करता हुआ सृष्टि का कारण यज्ञ रूप मनुस्मृति मनुस्मृतिकार ने भी कहा है लेकिन स्तुति परक है लेकिन उसको बौद्धायन लाख्यायन शाख्यायन इत्यादि अनेक ऋषि लोग हुए जिन्होंने गृह सूत्रों को धर्म सूत्रों का निर्माण किया और यज्ञों का जो स्वरूप का निर्णय दिया वेदों में कोई भी यज्ञ परिपूर्ण नहीं है वेदों में जो है किसी भी यज्ञ का स्वरूप अपने आप में परिपूर्ण नहीं है और जो है उसमें असमंजस है समझ में नहीं आता इसको कैसे करना उसको करना कि क्या करना कैसे करना तब क्या करना पड़ता है आपको गृह सूत्रों के अधीन होना पड़ता है धर्म सूत्र कहते हैं बौद्धायन धर्म सूत्र है धर्म बौद्धायन श्रोत सूत्र है कात्यायन का श्रोत सूत्र है और कात्यायन यज्ञ पद्धति विमर्श पुस्तक भी छपी है इन सभी के आधार पर निर्णय दिया गया कि न्यूनाधिकता को निवारण करके अनुष्ठान का क्रम को निश्चय किया तो वो लोगों का कहना है यज्ञ के कारण से सारा संसार है यज्ञ से संसार की उत्पत्ति है ये भी ठीक नहीं कि यज्ञ यज्ञ का व्याख्यान देना क्या क्या यज्ञ से द्वी रूप है द्रव्यन देवदा चैती यज्ञ का अपने आप में परिपूर्ण एक अद्वैत स्वरूप तो है नहीं उसका भी दो के अधीन है एक द्रव्य देवता देवता का उद्देश्य द्रव्य को त्याग करना पड़ता है अर्थात देवता को प्रसन्न करे बिना काम चलेगा नहीं उत्पाद कर वही पूर्व में समस्या जो थी देव देवा तदविदा वो समस्या यहाँ भी खड़ी हो जाएगी और देवताओं को हम प्रसन्न करेंगे तो देवता हमारे कर्म से जरा प्रसन्न होने पर ही फल देने वाले हुए अर्थात हमको एक फल देने में स्वतंत्रता नहीं रह गया तो वही दोष दोबारा आ जाता है यहाँ पर भी एक ही अस्मिन यज्ञ विज्ञान अभाव समुदाय से अवस्तुत्वादी क्योंकि जो द्रव्यम देवता त्याग इत्यत्र एक एक यज्ञ विज्ञान अभाव किसी एक में भी यज्ञ विज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता केवल द्रव्य को भी यज्ञ नहीं कर सकते केवल देवता को भी यज्ञ नहीं कर सकते केवल त्याग का भी नाम यज्ञ नहीं है सर्वांगोपेत समुदाय का नाम नहीं सांगोपेत जो है वो अंगी को हम यज्ञ कहेंगे लेकिन वो जो समुदाय है कोई वस्तु रूप नहीं है प्रत्येक अवय मिलके हुआ ना जैसे पट कोई वस्तु है क्या तंतुओं से पृथक पट नाम का कोई वस्तु नहीं है तंतुओं की विशेष स्वरूप का नाम पट है कि धागे है ना धागों को तो अपना बनाया कपड़ा बनाया और धागे ही है और है क्या और धागों के विशिष्ट स्वरूप को आपने नाम दे दिया कपड़ा जैसे उसी प्रकार से प्रत्येक अंगों का अनुष्ठान जब करता हूँ समस्त अंगों से विशिष्ट अंगी उसी को आप यज्ञ बोल देते हो वो अंगों से अतिरिक्त यज्ञ नाम का कोई स्वरूप है नहीं और अंग कितना एकता ही तो अनेक है किसको तो वास्तव में यज्ञ का स्वरूप मानोगे किसी एक को तो नहीं मान सकते ना किसी एक धागों को कपड़ा बोलूंगा नहीं बोल सकता अतएव समुदाय को कोई अपना वास्तव स्वरूप ही नहीं इसलिए उससे सृष्टि नहीं मानी जा सकती और प्रत्येक अवय से माना गया तो किस अवय से सृष्टि हो रही है व्यवस्था आप नहीं दे सकते अतएव यज्ञों से सृष्टि है यह बात पे खंडन हो जाता है